द्रव्य गुणादि भेदो अपिपगत द्रव्य गुणादि का भेद भी आपने स्वीकार कर लिया है तद्वैधानी हो गई ये तो गुण कर्माश्रतम द्रव्य से इसमें मैं मानते गुण कर्म आदियों का आश्रय का नाम द्रव्य है लक्षण नचांतरण भेदम आश्रय आश्रय भाव संबंध और दूसरी बात आश्रय आश्रय भाव भी बिना भेद का हो नहीं सकता भेद तो माननी पड़ेगी द्रव्याद रूपाद न बिन्ना व्याहतम बचा इसलिए आपके वचन वध व्याघात दोष ग्रस्त है विवक्षित द्रव्य लक्षण पदे तब भले भाषाकार नहीं कहा है उसका टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं द्रव्य का लक्षण क्या हमारे यहाँ द्रव्य का लक्षण क्या है स्वतंत्र सन्मात्रम द्रव्यम अनाश्रितम सत्य स्वतंत्र क्या हो अनाश्रित किसी में आश्रित और आपके सारी पृथ्वी आदि कहीं न कहीं आश्रित होते हैं और हमारे ये चीज कहीं भी आश्रित नहीं अनाश्रितम सत्यन प्रती और यंज और सत्यन प्रतीति के योग्य भी है ये भी नहीं समझे गए वो कहेगा फिर सत्य जाति वाला है वो सत्यवान ऐसा अर्थ निकाल सकता ना नहीं है इसने कहा दिया भाई वो सत्य वाला ये भी नहीं कहता सत्य रूपेण प्रती का योग मात्र आत्मा खवेलक्षण सब जगह तथा चाह ब्रह्म द्रव्यम लेकिन हमारे मत वेदांत में तो क्या द्रव्य एकमात्र ब्रह्म और दूसरा कोई द्रव्य नहीं है महाराज पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब क्या होगा फिर सब आत्मा से पैदा हुए हैं ये सब द्रव्य है दुनिया भर के अरे भाई आप ऐसे सोचते हो लेकिन वो सब क्या है रूपाधि रूपाधि तो सारे रूप गुण कर्म सामान विशेष समाय और अन्य चित्र भी प्रत्यय द्रव्य मानते हो तुम वो सारे की सारी कहाँ है रज्वाद अवच्छिन्न सर्वाधि रज्वादि से अवच्छिन्न जो सर्वाधि के समान है भी यहाँ पर प्रतिव्याद अवच्छेदन ब्रह्मणीय तत्व प्रतिव्याद अवच्छेदन जो ब्रह्म उस ब्रह्म में रूप रसगन स्पर्श आदि सारे के सारे अभी जाति सामान विजय जो भी बोलोगे सब उसमें अध्यस्त है तद अभेद इसलिए ब्रह्म के साथ साथ अभिन्न माना जाएगा पृथ्वी आदि नाम तो अरे पृथ्वी आदि अवच्छेद कहा जावे या पृथ्वी आदि से अवच्छिन्न ब्रह्म में रूप रसगंध की कल्पना आपने कहा तो पृथ्वी आदि कहा जावे कहते हैं पृथ्वी आदि नाम तो ज्ञान अवच्छेद तो ज्ञान का अवच्छेद स्वरूप का अवच्छेद वृत्तिर्ज्ञानत्म जैसे अवच्छेद वृत्ति है ज्ञानत्म ज्ञान का अवच्छेद होने से वृत्ति को भी क्या मानते हो ज्ञान कह रहे तो ठीक उसी प्रकार से द्रव्यावचक द्रव्यत्म ब्रह्म का अवचन कौन से पृथ्वी को भी हमने द्रव्य नाम रख दिया एक आकार ज्ञान को अवच्छन कौन कर दिया आपकी अंत कर्ण वृत्ति हो रहे और अवच्छेदन करने वाले सुवृत्ति को भी क्या कहते हो ज्ञान व्यवहार हो गया जिस वृत्ति में ज्ञान तो व्यवहार क्यों हुई क्योंकि ज्ञान का अवच्छेद कर रहा है किसी प्रकार से पृथ्वी किसको अवच्छेद गया ब्रह्म को इसलिए पृथ्वी को ब्रह्म कह देंगे द्रव्य कह देंगे क्या पता औपचारिक तो होनी है कल्पना दरिद्रता किम है अरे कल्पना करना ही तो दरिद्रता क्यों कर रहे हो कलम खुला कल्पना करो जय अगर आगे कहेंगे टीकाकार जब कल्पना करनी है तो उसे भी दर्द करेंगे हम है रातों में कुछ होना हो और उसमें आपके नुकसान पता हो तब तो डर लगेगा ना अरे ऐसे नहीं करेंगे हम है ना कि हमारा नुकसान होगा इसमें हमारा आत्मा भी हो जाएगा तो बिगड़ेगा आत्मा जब ऐसा है ही नहीं मामला अगर कल्पना करने से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाले तुम्हारे आते कुछ भी कल्पना करो तो प्रतिबद्ध मानने में आपत्ति क्या है अवच्छेद एकवा द्रव्यावच्छेद द्रव्यम रूपाद्य अपेक्षा स्वातंत्र लक्षण समन्वय और रूपादि अपेक्षा से प्रथम क्या है स्वातंत्रता अधिक है इसलिए उसको हम रूप ऐसा अलग कर देते उसके लक्षण समय भी करें रूपवत्तम कहीं आपने अद्भुत रूप वाला है कहीं शिव स्पर्श वाला है है ना उष्ट स्पर्श इत्यादि जो लक्षण कर रहे हो हमें कोई आग्रह नहीं चीजों का बचेगा रूपत्व अपेक्षा स्वातंत्र मादया रूपादवत व्यक्ति रूपत्वादि की अपेक्षा से स्वातंत्र को लेकर के रूपाधियों में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी ऐसे शंका न करो नहीं लक्षण अस्थिति व्यवहार प्रसंजनीय हो लक्षण चले जाने मात्र से व्यवहार कह नहीं सकते जैसे लक्षण क्या आपका सत्य और स्वतंत्र वो लक्षण तो आगे रूपम अस्थि तो बोला ना आपने रूपम अस्थि जब बोला ना प्रती हुई नहीं सत प्रतीत हो गया रूप और स्वतंत्र में बोल हो रहा है द्रव्य का नाम तो लिया नहीं हमने रूपम अस्थि कह दिया अन्य निरपेक्ष कथन जब हो रहा हो तो या आपका तो जो रूप गतोस्ती तब तो रूप बेचारा घटाश्रत हो गया स्वतंत्र का भान नहीं होगी वहां और केवल रूप में अस्थि कहा दो तब रूप स्वतंत्र और सब शब्द हो गया लक्षण आपका क्या ना स्वतंत्र सन्मातम लक्षण रूप में भी गया कभी लक्षण जाने मात्र से वस्तु को दृढ़ कर व्यवहार हम नहीं करेंगे लक्षण तो सभी कल्पित पदार्थों में जाएगी सभी उसी में है और उससे अभिन्न है अतः कोई दिक्कत नहीं लक्षण जाने मात्र से तादृश व्यवहार भी हो जाए ये कोई नियम नहीं है क्यों द्रव्य व्यवहार उपपत्त लक्षण निर्माणात द्रव्यत्व का व्यवहार करने के लिए ही लक्षण का निर्माण किया गया है अत्र अली का वारण आया सन्मात्र परिकृति कर रहे हैं अली कौन में अतिवात्य वाहन करने के लिए सन्मात्र कह दिया उसे मातृ शब्द क्यों कह दिया सब कह दो मातृशब्द शब्द वारणार्थ गुणाश्रत्वादि का वारण करने के लिए ऐसा ना कहो कि आत्मा में गुण रहता है तो सिद्धि नहीं होगी सत मात्र है अर्थात गुणादि नहीं है गुणादि वारण और गुणादि में ही लक्षण चला जाए उसने स्वतंत्र कर दो पूर्ण स्वतंत्रता भले शब्द बोले रूपम मस्ती लेकिन रूप से पूछोगे ना फिर तुरंत आप रूपावासी कहते ही बराबर भी प्रश्न आएगा पुत्र कहीं दिमाग में भरा है कि रूप किसी किसी में रहता है रूप अपने आप में रहने का स्वतंत्र योग्य नहीं है और अरुणाधिकरण न्याय भी है नहीं तो क्रीडा थी अरुण रंग से खरीद लो यदि गुण स्वतंत्र होता फिर उसे खरीदते क्यों नहीं हो नहीं हो लाल रंग वाला वस्तु के द्वारा खरीदते हो लाल रंग से खरीद नहीं पाते हो है नहीं तो आपसे कहो लाल रंग लाओ तो लाल रंग ला ही नहीं सकते आप हाँ, जो लाओगे मिट्टी लाओगे पाउडर लाओगे और पाउडर तो पार्थिव वस्तु है रंग थोड़ी हो वो ये तो द्रव्य तो आप रंग लाने कहा जाए तो भी आपको चूर्ण ही लाते हो बिना चूर्ण रूपये अधिष्ठान का रंग केवल लाओ ला नहीं सकता कोई इसे स्वतंत्र तो उसमें घटेगा ही नहीं अगर संतोष इसने दिया गुणाधिपति व्यक्ति वारण हो जाए क्योंकि सब अस्वतंत्र वस्तु है इस प्रकार से वेदांत मत का जान किस लिए गए आपको पता चल जाए कि वेदांत में द्रव्य का लक्षण क्या है उसका प्रकृति कैसे होता है सब विचार सामने आ गया इसलिए मूल वाक्य समझ में आ जाता है कि द्रव्य रूप गुणाकर सामान्य विशेष समाया भिन्ना न संति परेशान वेदांति नाम मत है यही अत्यंत भिन्न एवं द्रव्य शिव इच्छा आत्मनस्तुता च सदी द्रव्य तेषाम संबंध अनुपत्ति है यदि वास्तव में अत्यंत भिन्न द्रव्य से गुण फिर द्रव्य गुण का संबंध हो नहीं सकता अत्यंत भिन्न द्रव्य सुरिच्छा आदि हाँ, आत्मना ये आत्मरूपी द्रव्य से इच्छा आदि जो गुण है यदि वे अत्यंत भिन्न है फिर तो द्रव्य के साथ तेषा संबंध अनुपत्ति उनके संबंध हो नहीं सकता अनियत होगा वो नियत नहीं नित्य नहीं हो सकता जो आप मानते हैं जैसे कथा यु सिद्धांत समवाय लक्षण संबंध निवृत्त है अरे वो तो आयुष है और आयुष सिद्धों का अत्यंत भिन्न होने पर भी अत्यंत भिन्न होने पर भी हमारे मत में नैयायकों के मत में क्या है आयुध सिद्धों का भी परस्पर संबंध होता है और उसका नाम हमने समवाय रखा और समवाय को भी नित्य माना है ऐसा होने में कोई विरोध नहीं हो सकता पूर्व पक्षी कहता कहते यही फंस रहे हो ये मान के फंस गया इसलिए सिद्धांत कहते हैं ना ये नहीं हो सकता है भाई क्यों इच्छा अधिक अनित्य उनसे पूछा नहीं आए कौन सी इच्छा आदि अनित्य है इच्छा आदि गुण तो अनित्य है और आत्मा प्रयुक्त कहा रह गया दोनों स्थिर होने चाहिए ना नित्य किसी दो किस दो का विचरण यदि संबंध को नित्य मानना है दोनों से भी नित्य होना ही पड़ेगा संबंध ही नहीं रह जाए तो संबंध रह जाए क्या प्रमाण जब एक संबंधी खत्म हो जाए आत्मा है ठीक है नित्य आपने मान लिया यानी इच्छा नहीं रह गई तो समय कहाँ रहा फिर वो संबंधी नहीं है तो संबंध कैसे टिकेगा ये संबंध अनित हो गया इच्छा निर्वृत्ति समवाय तो समवायत्ताचिन कोई ना कोई समय रहेगा वो यही कहेगा फिर समवायत्तावच्छिन्न अलग अलग समय इच्छा निरूपित समवाय अलग है ज्ञान निरूपित समय अलग है सुख निरूपित समय अलग है दुख निरूपित समय अलग है सब अलग अलग समय है और समय तेरे समय को लेकर हम कहते नित्य संबंध है वो भी व्यवस्था नहीं दे सकेगा क्यों कहेगर आत्मा नित्य से पूर्व सिद्धत्व नायत सिद्धत्व पति है क्योंकि पूर्व सिद्ध वस्तु है वो और उसके अंदर नित्य गुण यदि विद्यमान है वो अनित्य गुण है गुण की अनित्यता मानने का कारण क्या है उनको गुण अनित्य क्यों मान रहे हैं अनुभव क्या कर बोल रहे हैं वो अनुभव क्या रहे हैं आप एक बार एक ही चीज का अनुभव है या तो ज्ञान का तो इच्छा का तो द्वेश का तो सुख का तो दुख का एक ही का अनुभव हो रहा है इसे बताने हो नहीं रहा इसे मजबूरी में उनका कहना इच्छा भी अनित्य होंगे जरूर प्रमाण नहीं उनके पास युक्ति है केवल युक्ति सिद्ध नहीं हो सकती हम तो उपाधि की उपाधि अनित्य तीसरे गुण अनित अनुभव हो रहा है वास्तव में गुण है वहाँ ऐसा मान लो तो नित्य मानना पड़ेगा गुण तो समय समय में नित्य माना जा सकता है नहीं तो नहीं मान सकते तीसरे कहते हैं आत्मा नित्य से पूर्व सिद्ध तो आत्मा जो नित्य है वो पहले से ही सिद्ध रहेगा विद्यमान रहेगा और आप अनित्य है या इच्छा आदि वो बाद में आएंगे तब संबंध होगा तो ऐसे वस्तुओं को अयुत सिद्ध नहीं कह सकते संयोग और समवाय में कोई अंतर नहीं रह गया फिर आत्मा संयोग क्यों कहते आत्मा समय देगा आत्मा में मन का संयोग मानते क्यों मानते फिर कभी तो भी अयुत सिद्ध मान लो कि मन का मन का आना जाना अनित्य जैसे इच्छा का आना जाना अनित्य फिर वो अनित्य समय मान रहे इच्छा जैसा अनित्य है उसका आवागमन होता है मन का भी आत्मा के साथ व्यवहार अनित्य आवागमन है उसका भी इसलिए मन और आत्मा का संबंध को भी समय नाम क्यों नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपने मन को एक स्वतंत्र द्रव्य मान लिया परमाणु रूप मान लिया उसका मान मान लिया ये जबरदस्ती आपकी कल्पना है ना किसी चीज को सहयोग संबंध मानने के लिए सब कल्पना कर लिया और दो प्रत्येक द्रव्य इसलिए हम सहयोग मानेंगे वो भी बात उठेगी दो द्रव्यों का विषय संयोग होना कोई जरूरी नहीं है दो द्रव्यों का बीच में संयोग ही होना कोई जरूरी नहीं है दो द्रव्यों के बीच समय भी होता है दो द्रव्यों का बीच में समय भी होता है अब जब गणकात्मक द्रव्य है परमाणु मात्र द्रव्य में समय समझ रहता ही नहीं रहता है तो कैसे रहेगा फिर कार्यात्मक द्रव्य कारणात्मक द्रव्य में आपके यहाँ दो भिन्न है हमारे यहाँ जैसे तो है ना भाई आपके हिसाब से प्रश्न उठ रहा है आपके हिसाब से जवाब है आपके यहाँ कारणात्मक द्रव्य में कार्यात्मक द्रव्य कल्पित नहीं है आपके भिन्न है भिन्न होते हुए दोनों का समय माना नहीं माना आपका तो सृष्टा मान लीजिए पर सर्व तो समय रहेगा समय संबंधी खत्म या तो सर्व सहयोगी माना समय खत्म करो कि जिस प्रकार के अयुक्त सिद्धत्व का लक्षण कर रहे हो वो लक्षण बनता नहीं इसलिए तो अयुक्त सिद्धत्व न अयुक्त सिद्धत्व ऐसे के पुरुष सिद्धत्व न अयुक्त सिद्धत्व उपपत्ति है आत्मना सिद्धत्व इच्छा जनाम आत्मगत महत्व नित्य प्रसंग अब ये एक विचित्रता है आत्मा विद्यमान कई जो गुणों को नित्य मान रहे और कई गुणों को अनित्य मान रहे ये भी विचित्र है और सबका समय समय से विद्यमानता है एक ही संबंध है संबंधी आत्मा है उसी संबंध से उस संबंधी में रहने वाले कुछ को वो संबंध कैसे कर देगा तो कुछ को अनित्य कैसे कर डालेगा ये कैसा हो सकता इसलिए यदि आप मानते हो आपका इच्छा अधिक हो फिर मत परिमाण के समान उसको भी नित्य मानना पड़ेगा आप वो देखा तू हो नित्य मानते नित्य गतम नित्यम संख्या भी नित्य हो गया परिमाण भी नित्य है उसमें फिर गुणा भी क्यों नित्य उसको भी नित्य मानिए तो आत्मा अहित सिद्ध यदि आत्मा के साथ अवित सिद्ध होने के नाते इच्छादियों को भी आत्म परिमाण के समान नित्य मानना ही पड़ेगा कहते चलो अच्छी बात है हमारी भूख को थोड़ा सुधार कर दिया मैंने आत्म गुण तो अपने मान लिया मैंने कहेगा आत्म गुण तो मान लिया आपने आत्म गुण मान लिया और उसको नित्य मान रहे हो तो कोई बात नहीं क्या आपकी वेदांत सिद्धांत तो हानि हो जाएगी अरे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता तुम्हारा बिगड़ रहा है क्या अरे सचा निष्ठा है और तुम्हारा मन निष्ठ है हम तो मानेंगे नहीं वो बात अलग है तुम्हारा मत अनिष्ठ क्या होगा आत्मना निर्मोक्ष प्रसंघात तो नित्य दुख रहेगा हाँ, इक्कीस प्रकार दुख का ध्वंस कब करोगे कैसे करोगे कि इच्छा आदि गुणों का नित्य मानोगे तो दुख भी तो आ गया इच्छा आदि गुण में वो दुख भी नित्य होगा कि नहीं होगा तो मोक्ष कैसे करोगे इक्कीस प्रकार का दुख का ध्वंस से मुक्ति होगी तुम्हारे सिद्धांत हानि हो जाएगी हम तो तुम्हें ज्यादा फंसाने के लिए बोल रहे थे इसे तुम हाँ कर दोगे तो तुम्हारा अनिष्ट प्रसक्ति हो जाएगी हाँ, हमारे मत तो में तो कल्पित है कोई आपत्ति नहीं इसीलिए दूसरी बात यह भी है समवाय द्रव्याद अन्य सदी द्रव्य संबंधांतरम वाच्यम यथा द्रव्य गण समवाय नित्य संबंध एवं नवाच्यम चेत तथा पहला सिद्धांत कह रहा है देखिए समवाय से द्रव्याद अन्य तो पूछो मैं संबंध भी बताओ द्रव्य से भिन्न यानी वो जो संबंध है द्रव्य से भिन्न है द्रव्य सम्मान दान्तरवाच्यम फिर द्रव्य से और संबंध आना पड़ेगा क्यों जैसा द्रव्य और गुण दो भिन्न थे इसके लिए आपने एक संबंध बीच में लाया और ये भी द्रव्य से भिन्न गुण से भिन्न है इधर वो कैसे रह जाएगा फिर उसको रहने के लिए कोई संबंध माननी पड़ेगी फिर वो संबंध पूछेंगे द्रव्य से भिन्न क्या भिन्न वही भिन्न थे और संबंध लाना पड़ेगा तानावस्था दोष हो जाएगा तो इसलिए वो क्या कहते हैं समवाय तो अलग है समवाय के बीच में अनियोगिता प्रतियोगिता लाते हैं अनियोगिता प्रतियोगिता और कहते द्रव्य जो है में गुण समवाय संबंध से रहता है इसका अर्थ सीधा नहीं है सीधे सीधे मत समझिए जो सुन रहे हो उसका अर्थ वास्तव में क्या है गुण अनिष्ट प्रतियोगिता निर्वृत समवाय अवच्छिन्न अनियोगिता वत्तम गुणवत्त द्रव्यम गुण में क्या है प्रतियोगिता तन निर्वृत समय अवच्छिन्न जो अनियोगिता तदवत्व का है वो भी कैसे तदत्व संबंध से कि अनियोगिता द्रव्य से अभिन्न है एक भिन्न कहोगे फिर मैं कहूंगा को संबंध कहां से आ गया वो किस समझ से रहेगा इसे वो अनियोगिता को क्या मानता है द्रव्य से अभिन्न मानता है प्रतियोगिता को गुण से अभिन्न मानता है इसे गुण द्रव्य में जैसा रहता है द्रव्य भी गुण में रह जाता है हाँ आपने सुना नहीं न्याय में द्रव्य गुण में भी रह जाता है कैसे संबंध करेगा द्रव्य निष्ठ जो अनियोगिता से निवृत्त समय संबंधाचल प्रतियोगिता संबंधे न द्रव्य गुण में आ गया और गुण निष्ठ प्रतियोगिता निरूपित समय संबंधाचल अनियोगिता वत्व संबंधे न गुण द्रव्य में ही रहता है साक्षात कहने के लिए हम कहे तो गुण समय संबंध से द्रव्य में रहता है ये कहने के लिए है ये वास्तविक नहीं है यदि ये माने तो समस्या आएगी इसलिए उसको अनियोगिता लानी पड़ेगी फिर अनियोगितात्मक जो संबंध क्या है उत्तर में से अभिन्न मानना पड़ेगा कहीं न कहीं जाकर अधिष्ठान से अभिन्न माने बिना तादात तो माने बिना व्यवस्था दे नहीं सकता नहीं तो अवस्था दोष हो जाएगा बस आ गए में जो तादात में है तो फिर द्रव्य से अभिन्न अनिवेदता नाम की चीज नहीं है अनिवेदन नाम क्यों रख रही जो अभिन्न है तो अभिन्न नहीं है तो नाम क्यों कहते नहीं द्रव्य को अनिवेदित रूप से देख रहा हूँ तुम द्रव्य को अनियोगिता रूप से देखते हो ना अर्थात अनियोगिता रूप ही नहीं है द्रव्य को आप अनिर्विता रूपेण द्रव्य को देखने का मतलब द्रव्य में तत्व का आरोप कर रहे अंतगत उसको वेदांत में आरोप करेगा तभी उसकी अभिन्नता का कथन कर सकता है और जब तक उसको आरोपित नहीं मानेंगे तब तक वह अभिन्न नहीं हो सकता भिन्न ही मानना पड़ेगा तो इसलिए उसका आरोप जहां मानेगा होगा कहते फिर सम्माई आरोपित है सब उसकी जितना पूछ में है और सारे के आरोपित हो जाए जब अनियोजित आरोपित हो गया उसका वचय कौन था समवाय उसका निरूपक कौन था प्रतियोगिता वो किसे भिन्न है गुण ये सारे के सर कहा आरोपित हो गया उधर बीमार इसलिए हमारे मत के खिलाफ जा ही नहीं सकता कोई अंत घूम करके उसको वहीं आना ही पड़ेगा वेदांत नहीं करे समवाय द्रव्या अन्यत्व द्रव्य ने संबंध अंतर यथा द्रव्य को नहीं हो जैसे द्रव्य और गुण के बीच में भिन्नत्व होने के नाते समय संबंध माना इधर समय यदि द्रव्य से भिन्न है उन दोनों के बीच में संबंध आपको कहना पड़ेगा उधर तो कहने की जरूरत नहीं वो नित्य और पूर्वक जाएगा समवाय नित्य संबंध चेत न चवाच समवाय तो नित्य संबंध है उसे अन्य संबंध अंतर क्या पैसा नहीं है ऐसा मत कहो यदि चित्त तथा च समवाय संबंधता में इत्यादि नित्य संबंध है समवाय नवाच्यम नीति संबंध संवाय ऐसा भी आप नहीं कर सकते क्यों कि तथा जो समवाय संबंध बताओ नित्य संबंध प्रसंग पृथक होते हैं समवाय संबंध से संबद्ध जो वस्तु है ऐसा नित्य संबंध वाले प्रसंग होने से उनकी पृथक उत्पन्न तो नहीं हो सकता पृथक तो अनुपत्मन अभेद हो जाएगा फिर दोनों का भिन्न मानना पड़ जाएगा भिन्न नहीं रह जाएगा क्योंकि आयुध सिद्धत्व के ऊपर ही चर्चा एक तरह से है आयुध सिद्धत्व का तात्पर्य चार भागों में विचार करते हैं पहला तो है कि भाई अपृथक काल तनाम नाम सिद्धत्व माना जाए कभी तो अपृथक काल मान ही नहीं सकते एक कारण दो चीज को मानते नहीं एक कालाच्छेद योग्य विभु विशेष गुणा नाम अयोग उनका सिद्धांत जो विभु पद्रव्यों के अंदर विद्यमान गुण होते इच्छा आदि विभु पदार्थ गण है आत्मा आकाश वगैरह वाले विभु पदार्थ मानते आने वाला जो प्रत्यक्षात करने योग साक्षात करने योग गुण इच्छा द्वेश प्रयत्न सुख दुख इत्यादि है इनको वो युगपत नहीं मानते एक कालाच्छेद हो नहीं सकता है असंभव है उनके मत इसलिए उन्हीं के नियम के अनुसार अपृथक का रूपा जो है अवित तत्व तो बता नहीं सकते कि तो इच्छा की अपेक्षा आत्मा पृथक काल या आत्मा की अपेक्षा से इच्छा के अपृथक काल दोनों ही नहीं हो सकता है क्योंकि सामान्य नियम है योग विशेष गुणाराम अलोक पद्यास तब तो कहते ठीक है फिर अपृथक देश तुम एक देश अच्छे में दो चीज रहने का नाम अयुक्त सिद्ध आत्मा भी है इच्छा भी है जिस देश में भी अच्छे देना आत्मा और इच्छा दोनों इकट्ठा रह जाता है इसलिए इन दोनों का विचार परस्पर हम क्या मानेंगे अयुक्त सिद्धता मानेंगे कद ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि जो है अप्रत्यक देशता इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यदि दोनों के दोनों एक देशावच्छे में रहते हो और दोनों का संबंधी नित्य है और तो संबंधी भी नित्य हो जाएंगे फिर तो इच्छा आदि भी नित्य हो जाएगा नित्यता नहीं रहेगी एक कारण इच्छा आता में तादात समझ रहता है अभेद समझ रहता है और संवाय और तादात्म नाम मात्र अपने फर्क करके समझना पड़ेगा ये इन्होंने कहा तो पृथक अनुभूति इसे जो पृथक देश आप कहना चाह रहे हैं वो हो नहीं सकता पृथक अनुभूति अपृथक देश घट रहे घटेगा नहीं कहते अपृथक स्वभाव न हो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अत्यंत पृथक द्रव्यादि नाम स्पर्श अस्पर्श द्रव्य और ष्ठी यदि वह अत्यंत वृदक है तो भी उनका संबंध नहीं बन सकता टीकाकार इसको बहुत बढ़िया ले रहे थोड़ा उसकी ओर जाइए संयोग से अभी साम्यम कारण है या तो संयोग और समय दोनों बराबर हो जाए कि सहयोग भी क्या पास है किसी मन का सहयोग हो गया वो क्या अनित्य शब्द में शब्द का आकाश के संबंध हुआ अनित्य वह आप सहयोग मानते हैं एक व्यापक द्रव्य के साथ एक परिच्छिन्न द्रव्य का संबंध होने का नाम आप हाँ? क्या मानते हैं संयोग संबंध जैसे घट का आकाश के संयोग संयोग हो गया वो अनित्य उसी प्रकार से यहाँ पर वो संयोग संबंध जैसा वैसे इच्छा भी क्या अनित्य है इनका आत्म संबंध हो गया जैसे घट का आकाश के साथ फर्क क्या रहा दोनों इसे संयोग और संवाद दोनों समान हो जाएगा इस पर टिप्पण द्वारा बड़ा विस्तार से समझाए देखिए संयोग संवाय साम्यमिति यदि समवायो पे समवायांतर न तिष्ठ ये समवाय समयांतर उससे और कहते जाओ तो अनवस्था भी हो जाएगी द्रव्य शुक्ल अनवस्था से आदि समवाय से नित्य संबंध उत्तम अभिगम दे उसी का वारण करने के लिए अनवस्था जो उसको दूर करने के लिए समवाय संबंध को नित्य संबंध माना है नहीं आए कही तथा स्वरूप नहीं वह है और जो नित्य होगा वह स्वरूप सदा रह जाए मान्य पड़ेगी तद संयोग एवं स्वरूप अवतिष्ठतम नाम फिर हम कहेंगे फिर संयोग को उसके चौधर क्यों नहीं मानते स्वरूपता अवस्थित है करके चिम समवाय दुर्यसन इति संयोग फिर एक समय की परिकल्पना करने का दुर्व्यसन आप क्यों कर रहे हैं तो इस संयोग से समय साम्यम यह असूची इतर संयोग का समय के साथ समानता को यहाँ संकेतित कर दिया भाष्यकार ने किंच संयोग से अभी समय संबंध है क्योंकि वास्तु विचार करके देखते हैं तो संयोग क्या है संवाही का दूसरा रूप है क्या संयोग नित्या इसे संयोग भी नित्य ही कहा जाएगा नहीं नित्य संबंधवान अनित्य नित्य संबंध वाला अनित्य हो नहीं सकता क्योंकि उनसे पूछो दो अंगुले का बीच में संयोग संबंध है वो बोलते हैं है ना अंगुलियों का भी जो सर संयोग है उसी संयोग को लेकर इन दोनों में संबंध भी संयोग करते हैं लेकिन उनसे पूछे संयोग इन दोनों अंगुलियों के किस से रहता है कहना बड़ा समय से रहता है फिर आगे समझाए फिर ये संयोग क्या है समवाय का संबंधी हो जाएगा जो अनित्य द्रव्यों में ही संयोग होता है तो ये आप मान के चलोगे फिर वो संयोग उन अनित्य द्रव्यों के संबंध से रहता है समवाय से इसे इनका कहना है जब नित्य संबंधवान हो गया ये संयोग उसको अनित्य कहना उचित नहीं बनता संबंधी भी रहे संबंध ही होगा क्योंकि संबंधी ना हो संबंध से क्या प्रमाण है यही दो अंगुलियां नहीं है उनका सहयोग भी नहीं सहयोग नहीं तो समय भी नहीं अरे सहयोग से बराबर में नहीं तो समय को भी अनित्य कह रहे हो संयोग भी अनित्य है क्या समय को नित्य कहते हो तो फिर संयोग को भी नित्य कहना पड़ेगा एवं संयोग से नित्यत्व स्थिति संबंध समवाय साम्य भवती ऐसे संयोग संबंध का ये लक्षण बनेगा संबंध स्थिति नित्यत्म नित्य संबंधो संयोग नित्य संबंधो समवाय दोनों बराबर हो गया समवाय से समवायी भी गुणादी आनंदगिरी में समवाय से समवायी भी गुणादिनाच द्रव्येण समवाय का अपने समवायों के साथ इस तरह से गुणादियों का द्रव्य के साथ अत्यंत भेदे अत्यंत भेद मानोगे तो हिमवत विंध्य इव हिमालय और विंध्याचल के समान हो जाएगा फिर ऐसा अत्यंत भिन्न मानोगे इनका तीनों कारण कोई संबंध ही नहीं पैदा कर सकता इसलिए गुणों को द्रव्यों से अत्यंत भिन्न नहीं कर सकते और अत्यंत अभिन्न कर दोगे वेदांत में चले जाओगे मुश्किल है उसके लिए बेचारे को संबंध अरबते है यदि हिमवत और ये बच्चे तरी संबंध अरबते है तेषु परतंत्रता व्यवहार असिद्धि और उनमें परतंत्रता व्यवहार करना भी उचित नहीं बनता इतना ही नहीं किंचा इच्छा नात्म गुणा उपजन अपायवत्वा रूपा जो तैसा मनमान करेंगे इच्छा भी क्या है आत्मा का गुण नहीं है उत्पत्ति विनाशशाली होने से लूट के समान और रूप किसका गुण है आत्मा से भिन्न पृथ्वी का गुण है नहीं किसी प्रकार ये भी क्या हो जाए इच्छा भी आत्मा से भिन्न बुद्धि का गुण हो जाएगा है नहीं किस तरह से अनुमान मैं कर सकता हूँ यदा आत्मा न अनित्य गुणवान आत्मा अनित्य गुणों वाला नहीं हो सकता क्यों स्वयं नित्य होने से जो स्वयं नित्य है वो कुछ न कुछ गुण तो सदा मांगेगा अपने अंदर उसका सदा गुण होना ही चाहिए उसके बिना गुण कैसे टिकेगा इसे नित्य गुणवान से मानना पड़ेगा नित्य त्याग व्यतिरिक देहादिवत अनुमान करके व्यतिरिक से देहादि के समान देह नित्य है इसे इसमें रहने वाला गुण भी अनित्य बदलता रहता है उसी को कह रहे भाषिकार भाष्यकार अत्यंत पृथक द्रव्य स्पर्श स्पर्श द्रव्य सृष्टि संबंध अणुपति स्पर्शव द्रव्य का अस्पर्शव द्रव्यों के साथ में जैसा संबंध होता नहीं वैसे यहाँ पर भी संबंध नहीं हो पाएगा अत्यंत पृथक है आदि उपजना अपाय व इच्छा आदि हमको उत्तम विनाशाली गुण मान लिया तो तदवान करके आप आत्मा तत्व आत्म अनित्य प्रसंग या तो आत्मा को भी अनित्य मानना पड़ेगा अरे आत्मा को नित्य मानोगे फिर इच्छा गुणों को आत्मा में आप नहीं मान सकेंगे देहफलाधिवत सावयवत्व विक्रियावत्व च दोष हो अपरिहार्यो सद इतना ही नहीं आप किसी से समाधान कर भी लोगे एक दो दो दोष और आ रहे हैं जिसका आप कोई परिहार नहीं कर पाओगे क्या है देह फलाधिवत देह और अन्य कार्य के जो भी कार्य करते हो क्रिया का फल होता है जैसे तारस उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको सावयवत्तम विक्रियावत्तम च आत्मा को मानना पड़ेगा ये भी सावयव है ये भी विक्रिया वाला है अत इच्छा अनुरूपी फल उसमें पैदा हो जाते हैं नित्य मान इच्छा हमको उत्पन्न होने वाला मानना पड़ेगा उत्पन्न होने वाला मानना है तो विक्रिया के बिना उत्पन्न कैसे होगा वो विक्रिया के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती सवयवत्व के ना विक्रिया नहीं यदि उसको सवय ना मानो उसे विक्रिया नहीं हो सकता और विक्रिया बिना उत्पत्ति विनाश का प्रश्न ही नहीं है इसलिए यदि आप इच्छा उत्पत्ति विनाशशाली गुण वाला आत्मा मानते हो तो आत्मा भी देह के समान अनित्य हो जाएगा ये भयंकर जो दोष है ये दोनों दोषों को आप परिहार नहीं कर पाएंगे एक तो सवयवत्व दूसरा विक्रियावत्व ये दो दोष आ जाएंगे यथा तो आकाश से अविद्याध्यारोपित प्रजो धूम मनत्वा दोषवत्व अभी वास्तव सिद्धांत में आ गया क्योंकि जो सुख दुख कार्य विशिष्ट आत्म सिद्धि हो सकती है फिर पूर्व से पूछेगा ना यदि आत्मा इच्छा गुण नहीं है फिर बंदा भाव हो जाएगा मोक्ष व्यवस्था नहीं होगी शास्त्र तक हो जाएगा इच्छा के कारण से ही बंधन है इच्छा नहीं रहेंगे तो मुक्त है ये तो अंदर इक्कीस प्रकार के दुख का ध्वंस कर दो और दुख के अंदर सब ले लिया षड इंद्रिया षड विषय षड ज्ञान ये अठारह है है कि नहीं छह इंद्रिया छह उनके विषय हुआ और छह प्रकार का ज्ञान हुआ तजन्य बुद्धि बोलते वृत्ति बुद्धि बोलते हैं ज्ञान बोलते एक ही चीज है ये अठारह हो गए सुख दुख शरीर तीन इक्कीस हो गया तो इधर कहते हैं कि इनका ध्वंस करना पड़ेगा है ना उनके सिद्धांत है कोई व्यवस्था बनेगी नहीं क्योंकि आपने आत्मा तो माना ही तो फिर जब आत्मा में कोई गुण ही नहीं अनित्य गुण ही नहीं है उन्हें कारण का तो बंधन कहा रहेगी आत्मा में आत्मा न बंधन है न मोक्ष है तो शास्त्र बेकार हो जाएगा सब व्यवस्था बेकार है तब सिद्धांति कहते हैं कि भाई ये भी आप मान रहे हो ना आपके अंदर जो भी अनित्य वस्तु मान रहे बंधन मान रहे हो बंधन का कारण क्या है किसी भी दर्शनकार से पूछो बंधन का कारण क्या है नया एक हो वैशिषिक है सांख्य है योग है मीमांसा है बौद्ध है जैन है किसी भी पूछेंगे जवाब ही देगा अज्ञान उसको आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है वो कहेगा अविवेक ख्याति शब्दों का जाल विचार है कुछ अविवेक ख्याति से बंधन और विवेक ख्याति से मुक्ति योग और सांख्य नहीं और यही मीमांसकों का जो बात है उनके यहाँ भी अविवेक ही है कुछ विवेक करो आत्मा और अनात्मा का अपने मुक्ति हो जाएगा नहीं है कौन क्या कहते हैं कि भाई अज्ञान है जो हमारे अंदर है अनित्य इच्छा आदि है अनित्य अनित इच्छा अनित्य प्रयत्न और अनित्य ज्ञान इसी कारण से हम बंधन में है और ये तीनों चीज नित्य हो जाए हम ईश्वर हो गए नित्य ज्ञान नित्य इच्छा और नित्य प्रयत्न वाले का नाम ईश्वर है हम ईश्वर भगवता निरक्षर न्याय से उसमें एक हो जाएंगे है वैशेषिकों का सिद्धांत है और बहुत जैन सब उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया बहुत जन नाम दे समृद्धि नाम का चीज एक समृद्धि नाम का चीज है वो समृद्धि मैंने अविद्या और कुछ नहीं समृद्धि एक अविद्या का नाम है माया का दूसरा नाम है समृद्धि तो संवरण करने ना ढक दिया ना आत्मा को विज्ञान को ढक दिया है दूसरे का नाम समृद्धि रख दिया और इनसे पूछोगे वो कहते कि वे आकाश है आकाश नाम का चीज है जो आत्मा को ढक दिया जैनी लोग तो वो आकाश का वर्णन करो तो वो अज्ञानी है कुछ नहीं और आकाश के वर्णन करता है तो लक्षण अज्ञान का है वो नाम अलग प्रयोग कर रहे हैं लेकिन तो का एक ही सिद्धांत है आत्मा का वास्तविक स्वरूप को जानता नहीं है इसीलिए वो बंधन में है मैंने अविद्या के कारण से बंधन हुआ सभी को एक मत है इसमें वास्तविक बंधन तो है नहीं आत्मा सभी का निचोड़ निकला आकस्मिक तद बुद्धि हो गया है यही बंधन है ये अभ्यास है अब तस्वीन बुद्धि हो जाए वह मुक्ति है इसी बात को लेकर कहते हैं देखो यथा आकाश से अविद्याध्यारोपित रजो धूम मरत्वादि उत्तम तथा आत्मनोपी अविद्याध्यारोपित बुद्धियादि उपाधि कृत सुख दुख का दोषवत्ते बंद मोक्षादि व्यावहारिका न इसलिए हमारे यहाँ बंद मोक्ष जो व्यावहारिक सिद्धांत वो हमारे साथ कोई विरोध नहीं करता क्योंकि तो आरोपित आरोपित के साथ हमारा क्या विरोध अधिष्ठान को तो छू भी नहीं सकता आरोपित वस्तु इसलिए अधिष्ठान में आत्मा के शब्द कोई विकार नहीं हो पाता है या उसमें साहित्य नहीं आएगा आरोप करने मात्र जिस प्रकार से बालक जो है अविद्या से धर्मित कर देता है आकाश में रज को धूम को मल को और कहते हैं आज आकाश बड़ा गंदा दिख रहा है और उसके मलिनवत्ता अरे आकाश तो आज बिल्कुल साफ बहुत बढ़िया कढ़ाई जैसे लग रहा है इधर से आकाश कढ़ाई नहीं बन जाएगा फिर उसको सीधा करके पकौड़ी हूँ फिर उल्टी कढ़ाई दिखेगी वो सदा उल्टी कढ़ाई रहेगी ये ऐसे दिखाई देती रहेगी आदमी को तो ये सारी चीजें हैं करते हैं तला तल मैंने मतलब वही कढ़ाई पना मला इत्यादि तो भले आरोप करते रहिएगा तथा तो आत्मा इसी प्रकार से आत्मा में भी आप अविद्या का अध्यारोपित बुद्धि आदि उत्पादियों के कारण से कृत सुख दुख का दोष को लेकर के दंड मोक्ष आदि जो व्यावहारिक व्यवस्था है उसके साथ स्वरूप में कोई विरोध नहीं होता सर्ववादि विद्या स्पष्ट कर दिया सर्ववादि भी चाहे भले शब्द अलग प्रयोग कर रहे हैं नाम अलग प्रयोग कर रहे उस चीज के लिए लेकिन सभी को मान सामान्य रूप मान रहे हैं अविद्याकृत व्यवहार अभिगुमान परमार्थमा अच्छा ये बंध मोक्ष व्यवहार है पारमार्थिक न बंध है मोक्ष है सभी को स्वीकार है भले कोई कहे यहाँ से ऊपर चला जाएगा ये केवल आकाश नाम का चीज है वहां जाएगा जिन लोगों की वहाँ चौबीस तीर्थंकर होंगे उनमें से एक एक तेरे उपदेश दे देगा चौबीसवें वाले के पास पहुंचोगे और उसमें वो क्या करेगा लोकालोक नाम की एक स्थान है वहाँ ले जाएंगे वहाँ तुमको मुक्त कर देंगे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा पता है उनकी मुक्ति के चक्कर में मुसलमान तो साफ कर देता है सात आसमान के ऊपर सात आकाश माना उसने एक आसमान नहीं सात अलग अलग आसमान उसके ऊपर चले जाओगे वहां जाकर के मुक्ति मिलेगी हो तो सात लोगों को कह रहा होगा कि सात लोगों से परे होना पड़ेगा आपको अरे ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से वैराग्य जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक जो है मोक्ष नहीं होता अपनी भाषा में बोल रहा है बेचारा सभी ऐसे ही करते हैं वे क्या करें सभी का लेकिन एक बात सच्चाई यही है सभी का शब्द भेद भले ही हो तात्पर्य सबका इतना ही है अविद्याकृत व्यवहार मात्र ही है बंद और मोक्ष परमार्थ तरह बंद है न मोक्ष है सचवार आत्मभेद परिकल्पना तार्किक ही क्रियत है इसे आत्मभेद की परिकल्पना करना तार्किकों के द्वारा व्यर्थ ही समझो कोई जरूरत नहीं उसकी कल्पना करते हैं लेकिन आत्मभेद निमित्त तक व्यवहार तो रहा है कहते आज अमुक बीमार हो गया वो नहीं आएगा अमुक जो आ गया है अमुक छोड़ दिया है सब आत्मभेद कृत व्यवहार तो हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है तो व्यवहार कैसे चलेगा फिर कभी कथम पुनरात्म निमित्त व्यवहार आत्मेद निमित्त इव आत्मेद निमित्त के समान ऐसा हो रहा है आ, क्योंकि इसलिए करना पड़ रही हुआ क्योंकि आप बार हमारे एक ही बात रखते जा रहे हो भाई तो एक ही आप अनेक नहीं है इसलिए हम आपकी भाषा से पूर्व कर रहे हैं अभी आत्मेद के समान व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है यदि वास्तविक आत्मवेद नहीं है तो आत्मवेद के समान व्यवहार क्यों हो रहा है बताइए एक अस्मिन आत्म कृत चेत एक आत्मनि अविद्यात उपबद्धता चेत उच्चते कथम उपबद्ध ऐसा नहीं कर रहे ना एक आत्मनी अविद्यात आत्मनिमित्त का युव व्यवहार हो कथम उपबदते एक में अद्वितीय ब्रह्मात्मा यदि है तो अविद्यात आत्मवेद निमित्त व्यवहार में आप जो कह रहे हैं वो भी कैसा हो सकता है वो भी नहीं हो सकता है आपको वास्तविक विद्यमान पड़ेगा पूर्व पक्ष अपने रतंत्र में है क्योंकि वो ये नहीं मान सकता है कल्पित भेद से व्यवहार हो यह बात वो नहीं मान हमने कल्पना कर ले इतने मात्र से व्यवहार कैसे हो जाएगा क्योंकि वो देखता है कि मनोराज्य कर रहा है उसने कल्पना कर लिया एक स्वर्णमय घट का सामने में सोने का घड़ा है कल्पना किया और उस कल्पित सोने का घड़े से वो पानी लाना चाहता है लेकिन नहीं लाता हृदय जो कल कल्पित वस्तु से मैं कोई अर्थ क्रियाकारित्व व्यवहार नहीं कर सकता इसलिए यदि अविद्या कल्पित मात्र आत्मवेद तो बंधमक्ष व्यवहार नहीं होनी चाहिए तो दुर्वक्ष का अपनाश है तब सिद्धांत कहते नहीं कल्पित भेद से भी व्यवहार होते हैं वहाँ रूप कार्य समाख्याश्च भिद्यंते तत्र तत्र वही आकाशस्य न भेदोस्ती तद्वत जीवेश निर्णय कदे आकाश में कोई भेद नहीं होता लेकिन आकाश में आपने भेद कल्पना कर लिया तीन आधार पर कई तो रूप कहीं कार्य और कहीं नाम से अल्पत्वादी रूपेण आपने कल्पना किया ये जो है आधा किलो का डब्बा है एक किलो का डब्बा है कर ही नहीं कर अरे त्रिल विशाल आकाश को एक या प्लास्टिक के घेर करके कह दिया अरे आकाश इतनी छोटी है ये घटाकाश आधा किलो का है ये घटाकाश एक किलो का है बड़ा बड़ा घरा लिया घटाकाश पांच किलो का है इतने विशाल आकाश में अलपत्र रूप आप रही है और कार्य भी भाई इस जलाकाश से घटाकाश से मैं जल का आयन करता हूँ केवल आकाश तो होता घटाकाश से जलायन रूपी कार्य हो रहा है और समाध्यास नाम विद्या घटाकाश पटाकाश मठाकाश हर कार्य भी देख रहे हैं घटाका से जो कार्य होता है मठाकाश से नहीं हो सकता जो मठाका से कार्य होता है पटाकाश से नहीं होता जो पटाका से कार्य होता है घटाकाश से नहीं होता रूप कार्य और संज्ञा ये सब कहा है आकाश में कल्पित है नहीं कल्पित होते हुए सारा व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनका तो ठीक उसी प्रकार से तद्गत जीवेश निर्णय अविद्यागृत बुद्धियादि उपाधि में को लेकर के रूप काल और संज्ञा का कल्पना कर लिए और उसी के द्वारा सब व्यवहार हो जाए इतने आकाश एक आकाश है आकाश कितनी है एक है उसी एक आकाश में क्या देख रहे हो आप घट करक अपवरक आदि नाम अल्पत्व महत्व आदि रूपाणी विद्यंते एक आकाश है आप घटाकाश कर दिया कर्काकाश कर दिया आकाश कर दिया ऐसे ऐसे आप जो है आकाशों को बना लिए बनाने के बाद कहते हुए तो कर्काकाश छोटा है अल्प परिमाण वाला कमंडल कर्क है कमंडल आकाश को उसकी अपेक्षा से घटाकाश है मध्यम परिमाण वाला उसके अपेक्षा से मठाकाश अपर अपरगंध मठाकाश मठाकाश कैसा है बहुत परिमाण वाला है त्योहार आप कर लेते हैं रूप में अंतर कर दिया इसका परिमाण के कथन के द्वारा तथा कार्य इसी प्रकार कार्य में भी भेद कर लेते हो आप उदक आहरण धारण शयनादि समाख्या उदक का आहरण उदक का धारण और मध्य सेना ये त्रिपुट की आप परिकल्पना कर रहे हैं वास्तव में जो ब्रह्म विद्या है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही ब्रह्म ज्ञान है अलग कहा है कोई तीन चीज तो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या ये तीनों अभिन्न वस्तु है कि शास्त्र क्या है ब्रह्म विद्या वेदांत शास्त्र और ब्रह्म विद्या क्या है ब्रह्म विद्या ब्रह्म ही है अलग तो है जैसे अन्यत्र क्या होता है यज्ञ विद्या है यज्ञ संबंधी विद्या है विद्या आपने पाया तो यज्ञ हो गया क्या नहीं वहां आपको अलग यज्ञ करना पड़ता है इसलिए वहां पर यज्ञ विद्या जब मैं कहता हूँ यज्ञ अलग है विद्या अलग है धनुर्विद्या विद्या आपने सीखा तो क्या फायदा होगा धनुष तो चलानी पड़ेगी बिना चला तो बाण तो चलेगा नहीं विद्या से कहा चलेगा वो वहां साध्य साधक साध्य वेद हो सकता है साधा साधक साध्य वेद बन जाएंगे लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि ब्रह्म विद्या से ब्रह्म को प्राप्त कर कुछ और करना ही नहीं पड़ता ब्रह्म विद्या हासिल हुई तो ब्रह्म ही अनुभव में आ गया इसलिए ब्रह्म विद्या साधन ब्रह्म ज्ञान रूपी साधक ज्ञान और ब्रह्म रूपी जो सत्य स्वरूप ऐक्यता ये तीनों अलग चीज है ही नहीं अवस्था भेद से परिकल्पित अवस्था से व्यवहार कर रहे हैं